इन दोनों के विषय में मैंने प्रकाश डाला सातवा अध्याय और नवे किंतु अतिशय प्रेम रखने वाले की आपके प्रति मेरा अत्यंत प्रेम है प्रेम और आपके हित करने के इच्छा से मैं पुनः कहा तो यहाँ जिज्ञास के मन में जिज्ञासा हो क्यों एक बार बता तो दिया दोबारा क्यों बता रहे तो भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया क्योंकि मेरा जो प्रभाव है मेरा वैभव है मेरी विभूति है ये ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते चाहे तू देवर्षि हो ब्रह्मर्षि हो अथवा राजर्षि है किसी भी नहीं जानते क्योंकि सबका मूल आदि मई सभी प्रकार से इसलिए मेरे से अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकते हे अर्जुन इसलिए मैं आपको और भी बता रहे चलो यहाँ जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा होनी भी चाहिए कब तक जिज्ञासा होनी चाहिए यहाँ जिज्ञास पदार्थ को जानने तक जिज्ञासा है ना अता तो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा का विषय जानने के विषय तो एक ही परमात्मा तो जिज्ञास तत्व को जानने के बाद सारी जिज्ञासा समाप्त होती तब तक जिज्ञासा रहेगी तो इसलिए हर जिज्ञासा हो सकती है ठीक है आप सबका मूल भी है आदि भी है सब कुछ है तो आपको जानने से मिलेगा तो क्या प्रयोजन बिना अनुरूपी न प्रवचन इसलिए आगे बता रहे हैं उस तत्व को जानने से उसका फल बता रहे हैं अगले श्लोक में लिखे तीसरा श्लोक तीसरा श्लोक <clears throat> यो मा इसलिए भगवान भाष्यकर ने जहाँ भी सन्यासी नाम अधिक भाष्यकर जो रहे आभ्यंतर संन्यास है पुत्रेषण वित्तेषण लोकेशण उसको बताना तो वही अधिकारी है न तो लिंग संन्यास को लेकर नहीं बताना तो कहने का तात्पर्य हनो मतलब ऐषण त्रया से युक्त जिज्ञास माम अभी देखिए भगवान बोले माम माम मतलब क्या कृष्ण को माम का मतलब है तत्पद का लक्ष्य मत लेना अर्जुन के सामने जो उपस्थित है अर्जुन का जो रथ हाक है वो कृष्ण को नहीं बोल रहे दो दृष्टि होती है एक लौकिक दृष्टि एक शास्त्र दृष्टि ब्रह्मसूत्र में कहा शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वाम जैसा वामदेव ऋषि ने माता के गर्भ में भी ऐतरे उपनिषद में बता दिया है मैं ही चंद्र हूँ मैं ही मनु हूँ सारे जंजीरों को छोड़ करके मैं आकाश में उड़ने के समान व्यापक हूँ यहाँ जो बता रहे हैं वो शास्त्र दृष्टि से आत्मा दृष्टि से वहां भी देखिए राजा प्रतर्दन देवदासी का पुत्र स्वर्ग में गया था इंद्र को सहायता करने के लिए और सारे असुरों को पराजित किया इंद्र नहीं कर सका उन्होंने किया इतना पराक्रम था इंद्र प्रसन्न हो गया प्रतापधन ने कहा मनुष्य के लिए सबसे जो हित है सबसे कल्याणकार है ऐसा वर मुझे दीजिए तो उस समय में उन्होंने कहा मैं प्राण हूं मैं अमुक हूं मुझे पहचान अभी देखिए इंद्र बता रहे मैं प्राण हूं मुझे पहचान इस शरीर को लेकर नहीं बता ये जो बता रहे हैं शरीर के अंदर जो तत्व है व्यापक है उसको लेकर अन्यथा गीता में भी आ जाएगा विभूति भगवान क्या बता रहे हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मी पांडवा नाम अर्जुन सामने खड़ा है बोलते मैं पढ़ा ये है आत्मा दृष्टि से व्यापक दृष्टि से इसी प्रकार यहाँ भी माम शब्द से लेना अर्थात मैं व्यापक तत्पद का लक्ष्य हूं वाच्य नहीं लक्ष्य को लेना तो माम आगे मैं वेत्ति भगवान वैसे क्रिया है वेत्ति तो ऐसा मुझे कोई व्यक्ति का मतलब जानता है क्योंकि यहाँ जानने का मतलब भेद रूपेण नहीं जैसा में बाह्य पदार्थों को जान रहे हैं त्रिपुटी प्रमाता प्रमाण प्रमेय किंतु यहाँ जो जान रहे अभेद रूपेण अभेद रूप से तत्पद का लक्ष्य और तमपद का लक्ष्य दो नहीं है एक है ये समान करना है से तो इस प्रकार जो व्यक्ति न तो भगवान सामने है मेरा रथ हाँक रहे हैं और सारथी बन रहे इस प्रकार नहीं आत्मा रूप से अभेद रूप से जानता है इसलिए बता रहे व्यक्ति यो माम व्यक्ति अच्छा माम कैसा है वो अजम अर्जुन के मन में अथवा जिज्ञान के मन में शंका हो सकती तब मतलब मुझे मुझे मतलब ये शरीर हो सकता है जैसे बोलते मतलब मुझे पहचान लोग बोलते अथवा मुझे पहचानते हो इसको लेके बोलते शरीर को लेके वैसे यह माम कहने से भगवान का शरीर हो सकता है तुरंत बता नहीं अजम शरीर को मत समझो किंतु अजम अजम का मतलब जायते इति जा जायते इति जा जिसकी उत्पत्ति होती है जिसका जन्म होता है अर्थात जन्म यदि है षडभाविका अपने आप ही आ गया जायते अस्थि वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्य यदि जन्म है आगे पांच अपने आप है यदि जन्म नहीं है ये पांच अपने आप नहीं है ये पांच जिसमें है उसी का नाम है मृत्यु पांच का जो अभाव है छह का यही अमृत है नमृत है भी अमृत इसलिए बोला अजम और कैसे है अनादिम और अनादि अनादि का मतलब है उसका कोई आदि नहीं है आदि कहते हैं कारण क्योंकि सारे देवता है सारे ऋषि है सारा जगत उससे उत्पन्न हुआ है पीछे बता दिया और वो सबका कारण है और उसका कारण कोई नहीं इसलिए अनादिम च व्यक्ति इस प्रकार माम व्यक्ति कैसा अजम अनादिम माम व्यक्ति मुझे जानता है केवल इतना ही नहीं है देखिए हम दोनों रहे हैं सगुण रूप भी दिखा रहे हैं निर्गुण रूप भी यहाँ सृष्टि का प्रकरण आता है और तत्पद का वाचा आएगा और तत्व का प्रकरण आएगा तत्पद का लक्षण जैसे देखिए ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा किस ब्रह्म की जिज्ञासा है निर्गुण निराकार है अथवा सगुण साकार है अथवा सगुण निराकार है किस ब्रह्म की जिज्ञासा निर्गुण निराकार की अगे लक्षण बता रहे देखें जन्माद्यश्यता सीधा सगुण मिला दे प्रतिज्ञा के निर्गुण की लक्षण बता रहे हैं सगुण का वो भी तटस्थ लक्षण क्योंकि परमात्मा को बताने के लिए श्रुति दो लक्षण का अनुकरण करती एक विधि मुख और एक निषेध मुख विधि मुख भी दो भाग में विभक्त किया तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण उसको कहा कादाचित कादाचित सती इधर व्यावर्तक कभी रहता है और दूसरे को ब्याह खिलाता <clears throat> ऐसा मान लीजिए आपको किसी जगह जाना है मित्र के जगह में मालूम पड़ा अमुक जगह में है की बहुत घर है वहां किसने पूछा ये देवदत्त का घर कहाँ है तो उन्होंने कहा जिस मकान में जो कबूतर अथवा कौवा बैठा है ये देवदत्त अब देखिए लक्षण कौन हो गए वहां कौवा अथवा कबूतर और उसके द्वारा लक्षित कौन हो रहे हैं देवदत्त का तो कौवा अथवा कबूतर का उठने में कौवा कादाचित कर प्रेष कभी रहा पूरा उड़ गया किंतु जिसको जाना है वो घर को पहचान वैसे ही हाँ जन्माद्यश्य कहे अथवा यतो व भूता भूतानि जायन्ति न जाता जीवन्ति यत् प्रत्यवे विषयन्ति तैतरे उपनिषद इससे सारा जगत उत्पन्न हो रहे जिसमें स्थित है जिसमें लगा है लेकिन जगत क्या पहले था जैसे कौवा पहले भी नहीं था बाद में बीच में टपक पड़ गया वैसे ही जगत पहले भी नहीं बाद में भी बीच में दिख रहे किंतु उस जगत के द्वारा लक्षित हो रहे हो उस परमात्मा ये तटस्थ लक्षण किंतु तटस्थ लक्षण के द्वारा भी श्रुति संतोष नहीं ऋतु का संतोष नहीं तभी जाएगी स्वरूप लक्षण में ये दोनों विधि मुख है सत्यम ज्ञानम अनंतम ये स्वरूप लक्षण ये विशेषण नहीं ब्रह्म का लक्षण है अच्छा विशेषण और लक्षण में क्या अंतर है जैसे ये सफेद पुष्प है अथवा लाल गेंदा कहा गया ये विशेषण होगा और लक्षण में थोड़ा अंतर है लाल कमल कान्या अथवा नील कमल गंध वाली प्रतिमे एक गंध भी विशेषण है प्रतिमे का नील भी कमल का विशेषण किंतु नील को विशेषण माना गंध को लक्षण माना तो दोनों लक्षण सजातीय इतर व्यावर्तकत्व विशेषण विजातीय इतर व्यावर्तकत्व लक्षण नील कमल कहने से कमल में जितने भी जाति हैं उसको व्यावृत करेगा गुलाबाजी को व्यावृत नहीं करेगा कमल में सफेद कमल हो श्वेत कमल हो उनको व्यावृत करेगा अन्य पुष्प को नहीं ये हो गया विशेषण लक्षण होता है या वह इतर उदाहरण करता है विजातीय जैसा गंध वाली पृथ्वी जल को व्यावृत किया तेज को वायु को आकाश को अर्थात भिन्न जाति का व्यावर्तक होता है लक्षण और समान जाति का व्यावर्त होता है विशेषण अभी सत्यम ब्रह्म कहानी से अनात्म को जागृत किया असत्य जगत को जागृत किया और ज्ञानम मतलब अज्ञान आदि को जागृत किया तो इसलिए श्रुति ने सत्यम ज्ञानम ये जो लक्षण है स्वरूप लक्षण स्वरूप में लक्षण स्वरूप लक्षण जैसा मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहे है किसी के घर में उनने पूछा यहाँ हमारा कोई परिचय वाला रहता है हमारा दिया है उनका घर कौन सा है क्योंकि वहां जाना है हमारा भी सजाती एक रहता है कौन ब्रह्मा है तत्पर का लक्षण तो उन्होंने कहा जो घर देख रहे ना जिसका लाल दीवार है वो खिड़की है जिसमें झंडा लगा दिया है और बड़े बड़े उसमें गुंबज है ओम का उनका अभी जो लक्षण है उस घर से अलग नहीं हुआ जैसा वह कौवा तो उड़ गया था किंतु ये बाद में भी रहेगा वैसे ही यहाँ सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम साथ में रहेगा ये दो हो गया तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण सुटेन बताया किंतु हृदय को संतोष नहीं हुआ तभी जाके निषेध मुख में गया नेति नेति बृहदारण्य में एक बार नहीं पांच बार बता दिया नेति नेति सबसे ज्यादा पांच बार बता दिया इति ना इति ना दो आया इति शब्द से मूर्त ले जी और एक एक शब्द से अमूर्त पंचभूतों में दो भाग में विभक्त है ना पृथ्वी जल और तेज ये हो गया मूर्त वायु और आकाश हो गया अमूर्त मूर्त किसको कहते हैं कोई नैयायिकों तुरंत बोल दिया नहीं आए नैयायिकों की परिभाषा है जिसमें क्रिया होती है मूर्त मानते पृथ्वी में है जल में है तेज में है वायु में है मन में है पांच मानते हो आए पृथ्वी में भी क्रिया है जल में भी है तेज में है वायु में मन में ये मूर्त मानते किंतु वेदांत के अनुसार ये मूर्त नहीं मूर्त का मतलब है मूर्तिवद दृष्टि विषय जैसे मूर्ति का दर्शन करते हैं आंख से उसी प्रकार नेत्र का विषय जो बनता है वो मूर्त है प्रतिनिधि नेत्र का विषय देख रहे जल को भी देख रहे दूसरे ही शब्द से अविद्या लीजिए माया किसकी उपाधि है ईश्वर की माया उपाधि ईश्वर हो गए ना शुद्ध सत्व प्रदान माया है और शुद्ध सत्व प्रदान माया हो गए माया उपाधि ईश्वर हो गए मलिन सत्व प्रदान अविद्या अविद्या उपाधि जीव हो गया तो एक इति से माया को हटा दिया एक ही से अविद्या तो माया भी नहीं है अविद्या तो बचा क्या है केवल चैतन्य मात्र है ये निश्चित मुख से बता रहे तो इसलिए यहां दोनों बता रहे हैं आगे जो बता रहे हैं ना ये भगवान का सगुण रूप बता रहे और वो जो अजा है अनादि कैसा है लोक महेश्वरम सारा जो लोग है चौदह लोग कहे अथवा सारा ब्रह्मांड लोका नाम महानतम ईश्वर सारे लोगों का वो महान ईश्वर है सारा जो लोग है उसका ईश्वर है ईश्वर का मतलब वो शासक है ऐसे जो ईश्वरम मतलब जो सारे उनका वो ईश्वर है तो भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा लोकम ईश्वर का लोकानाम महंतम ईश्वर तुरियम अर्थात ये लोगों का महान महान का मतलब अपरिचित ऐसे जो ईश्वर है उसी का अर्थ कर रहे हैं अज्ञान तत्कार्य वर्चितम अज्ञान और अज्ञान का कार्य क्योंकि अविद्या भी दो प्रकार से एक कार्य अविद्या एक मूल में मूलाविद्या और विद्या माना है तूल का मतलब शाखा के समान तत्त विषयों में जो पढ़ी है अज्ञान विद्या और मूला विद्या भी दो कारणा विद्या और कार्य विद्या तो कारणा विद्या का लक्षण तो बता दिया था प्राप्त काल में अनादि अनिर्वचने प्रेषते आवरण विक्षेप शक्ति कार्य विद्या चार प्रकार से माने कारणा विद्या इतना दुख नहीं देती कार्य विद्या जैसा अनात्म शरीर में आत्मा प्रवृत्ति शरीर अनात्मा है माया का कार्य है अर्थात माया का कार्य पंचभूत गुण का कार्य उसमें आत्मा प्रवृत्ति हो रही तो अनात्मा में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही अवरोक्षानुभूति में भगवान भाषा का बहुत स्पष्ट बता एकदम ये अनात्मा है अनेक है आत्मा एक है दोनों में एक देख रहे इससे बढ़कर अज्ञान और क्या है तो पहले हो गया अनात्मा में आत्मा प्रवृत्ति एक और अपवित्र है शरीर छह कारणों से अपवित्र माना है शास्त्र में बीजात स्थानात चंदनात निधनात आदि या शरीर का बीज थोड़ा देखिए कहाँ से उत्पन्न हुआ है और शरीर रहा कहाँ है जहाँ दो फैक्ट्री है मलमूत्र है उसके बीच में और बाद में आने के बाद भी उसको आश्रित रहता है ऐसा अपवित्र शरीर में पवित्र ये दूसरा है और नाशवान है अनित्य है उसमें नित्य शरीर कैसे है दृष्टो नष्टा कदलिखम पवन भगवान भाष्यकार बता रहे हैं संसार कैसा है केले के पेड़ के समान देखते देखते नष्ट हो रहे ऐसा अनित्य वस्तु में नित्यत्व तो तीसरा हो गया चौथा है दुख रूप है उसमें सुगत्व बुद्धि अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि अपवित्र में पवित्रत्व बुद्धि अनित्य में नित्यत्व बुद्धि दुख में सुखत्व ये कार्य अविद्या हो गई और अविद्या का कार्य सारा जगत लेना अवस्थत्रय जागृत है स्वप्न है सुषुप्ति अविद्या का ही कार्य है ये तीनों अवस्था लीजिए अथवा कार्य विद्या बताए जो अनात्मा आदि में इनसे रहित ये बताए अज्ञान तत्कार्य वर्जितम न कोई उसमें अज्ञान है अथवा अज्ञान का जो कार्य है उससे रहित वो कौन है तुर्यम ये तुर्य माना है देखिए वास्तव में तुर्य कोई है नहीं मांडू के कार्य का मैं बता दिया अयम आत्मा चतुष्पाद आत्मा को वहां चार पाद कल्पना किया पाद नहीं पाद एवं पाद तो तीन पाद हो गए वहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति और चौथा पाद बताते समय अलग नहीं बता रहे उन तीनों को निषेध किया बस वही चौथा पाद तो वही तुरीय क्यों कहा मंगलाचरण में भगवान पाशा कर माया संख्य तुरीय प्रज्ञानम सुप्रदानेश्चिरचरिकर मांडुक्य कारिका का मंगलचरण में बता दिया माया को लेकर उसको तुरैया का जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में निषेध के बाद वो तुरिया का तुरिया तत्व तो बता दिया तुरिया पाल नहीं अपेक्षाकृत वास्तव में तुरैया नहीं चांदों की उपनिषद में भी यही बता दिया छांदोग्य उपनिषद के आठवें अध्याय में इंद्र और विरोचन देवताओं का राजा इंद्र असुरों का राजा विरोचन विरोचन था प्रहलाद का पुत्र और विरोचन का पुत्र हो गए बलि ये दोनों गए प्रजापति के पास विद्या प्राप्त करने तो प्रजापति ने कहा ऐसा तो हम विद्या नहीं सिखाएंगे क्योंकि आए हैं विद्या सेवया विद्या विद्या के द्वारा विद्या धन से तीन माना है सेवा करके प्राप्त किया जाता है और धन देकर प्राप्त किया जाता है और विद्या के बदले में विद्या तो सेवक के द्वारा प्राप्त की विद्या श्रेष्ठ मानी जाती है वहाँ गुरु शिष्यत्व भाव रहता है अन्य में थोड़ा कम रहता है तो इसलिए वहाँ प्रजापति ने कहा बत्तीस साल तक हम ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा बत्तीस साल के बाद उनको उपदेश किया ऐसा दक्षिणाक्षी पुरुष होकर के आठ उसके बाद और भी दृष्टांत बताए सकोरे में ध्यान में देखो समझ गए बस यही आत्मा है और उसका लक्षण क्या विजर हो अमृत हो विपाप हो ये बताया था लक्षण भी बताया था पहले तो विरोचन ने सोचा ये शरीर है सगोरे में छाए किसके प्रति शरीर की तो शरीर ही आत्मा है देहात्मावाद का प्रचार किया गए वहां से दोनों गए इंद्र भी गए विरोचन भी और जाते समय प्रजापति ने कहा मैंने जो बताया विद्या ठीक ठीक से जान लिया नहीं तो उनके लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा तो दोनों में इंद्र विचार करते गए इसलिए विचार को बहुत जोर दिया है जैसा जैसा विचार करते जाएंगे अविचार शिथिल होते जाएगा क्योंकि तो ये सारा जगत है अविचार के ऊपर टिका है तो इंद्र सोचे शरीर परमात्मा नहीं हो सकता शरीर नाश होता है वैसा ही वापस आ गई उसके बाद उन्होंने कहा पुनः बत्तीस साल हो तो वहाँ स्वप्न का दृष्टांत के द्वारा समझा दिया तो इंद्र कहा ये हो सकता है जागृत में हम अंधा है स्वप्न में अंधे नहीं होते जागृत में लंगड़ा है स्वप्न में लंगड़ा जैसा नहीं होता है तो ये हो सकता है तो विचार करते करते गए सोचा नहीं नहीं स्वप्न में भले भी ना हो किंतु स्वप्न में भी वो दुखी होता है वो ऐसा नहीं होगा दोबारा वापस आ गए प्रजापति ने कहा नहीं और बत्तीस साल कितना हो गया बत्तीस बत्तीस बत्तीस छियानवे साल तभी जाके वहाँ सुषुप्ति का उन्होंने बता दिया तो इंद्र ने सोचा ठीक है सुषुप्ति में कुछ होता नहीं न राग है न द्वेष है न क्रोध है कुछ ये हो सकता विचार करते करते गए ये सब ठीक है किंतु सुषुप्ति में दूसरे को जानना दूर बात अपने आप को नहीं पहचानता मैं कौन कहाँ सोया ये तो आत्मा नहीं होगा दोबारा वापस आ गए प्रजापति ने कहा और भी आपके अंदर थोड़ी कमी है और पांच साल पूरा मिला करके एक सौ एक साल तभी इन्हीं को ही निषेध करके बता दिया कोई अलग नहीं उसी का नाम है तुरीया अवस्था त्रय का बात करने के बाद जो बच जाएगा वही तुरीय तत्व और कोई तुरीय तत्व इसलिए यहाँ संकेत कर रहे हैं भाष्यकार अज्ञान तत्कार्य वर्जितम तुरय अज्ञान और अज्ञान की जो कार्य जो भी अवस्था थी बाल्यावस्था हो यवन अवस्था हो जागृत हो सुषुप्ति हो जो भी इसलिए अवस्था दिया है भगवान ने इसको बृहदारण्य में स्पष्ट बताया जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो स्वप्न और जा सुषुप्ति अवस्था इसलिए स्वप्न अवस्था के द्वारा इस लोक और परलोक को आप जान सकते परलोक है ये निश्चय होता है स्वप्न के द्वारा वह सिद्ध किया है कोई भी व्यक्ति स्वप्न देखता है तीन प्रकार माना है सुरेश्वर आचार्य ने वार्तिक में उसका व्याख्या करते हैं विद्यारण्य स्वामी ने वार्तिक सार स्वप्न का तीन माना जाता है एक बाल्यावस्था में स्वप्न देखता है छोटा सा बच्चा यौवन अवस्था में स्वप्न देखता है और वाद वाक्य बुढ़ापे जैसा पालने में बच्चा होता है कभी खिलखिलता हुआ हंसता है कभी रोता है एकाएक क्यों वो जन्मांतर का स्वप्न देख रहा है पूर्व जन्म का और यौवन में अधिक से अधिक वर्तमान का स्वप्न देखता है अभी जो हम कर रहे हैं जो भी उसको देखते हैं बुढ़ापे में आगे प्राप्त होने वाला शरीर का देखते हैं ये संकेत है बार बार किसी भी स्वप्न देख रहे हैं वो जन्म प्राप्त होने का संकेत तीन प्रकार का तो स्वप्न के द्वारा इसलोक और परलोक का संकेत तो सुषुप्ति क्यों दिया सोने के लिए नहीं सुषुप्ति के द्वारा ये समझा दिया उस सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय ने हम इतना आनंदित हो जाते मोक्ष के लिए सटीक दृष्टांत है सुषुप्ति उससे बढ़कर कोई दृष्टांत है बार बार शास्त्र बता रहे बस इतना अंतर है सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान ब्रह्म के साथ एक होता है और ज्ञान अवस्था में ज्ञान ब्रह्म के साथ इतना ही अंतर तो सुषुप्ति के द्वारा ये समझा रहे शास्त्र जैसा सुषुप्ति में बिना विशेष इतना आनंदित हो सकते हैं वो आनंद कहाँ से आया कोई बाहर से तो आया नहीं तो आपका ही आना वो आनंद को तुम जागृत में क्यों आनंद अनुभव नहीं कर सकते ये समझा ये जागृत है जानने के लिए सुषुप्ति और स्वप्न दृष्टांत हो गया स्वप्न के द्वारा परलोक और इस लोक को जागृत में जाना और सुषुप्ति दृष्टांत के द्वारा जागृत में मोक्ष इसलिए बना इसलिए बता रहे हैं अज्ञान तत्कार्य वर्जित आगे असमूढ़ मूढ़ा मतलब विशेष विषयों में जिसकी बुद्धि बिल्कुल रम गई उसको कहते हैं मूढ़ा किम कर्तव्य क्या करना क्या कर्तव्य कोई पता नहीं और न मूढ़ा यदि असमूढ़ असमूढ़ का मतलब है सम्मोह वर्जिता अर्थात उसके अंदर कोई सम्मोह नहीं बिल्कुल मोह से मोह है मदिर माना ही हैं मोहमयी प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत बोल रहे दत्तात्रेय ने तीन प्रकार का शराब अवधुत गीता में गौड़ी पिष्टि जरूरी करके चौथा माना शास्त्र है केवल मनुष्यों मनुष्यों में ही अधिकार है शास्त्र का अधिकार मनुष्य मात्र है पशु भी नहीं है देवता मोक्ष के लिए कुछ अधिकार है अन्य नहीं तो विशेष रूप में शास्त्र जो जितना भी है मनुष्यों को ही माना है चौरासी का इसलिए अर्थ किया मर्देश मनुष्य कौन वो जो असमूढ़ व्यक्ति है इस प्रकार उस तत्व को जानता है वो मनुष्यों में सर्व पापी प्रमुचते सर्व पापे विशेषण बताया है सारे पाप जितने भी जो पाप है जन्मांतर का हो इस जन्म का हो यहाँ पाप का मतलब केवल पाप नहीं पुण्यों की पापा पुण्य को भी पाप माना है हाँ अज्ञानी की दृष्टि के लिए ये पाप है ये पुण्य है ये अंतर हो गया पाप बंधन का ही कारण है पुण्य बंधन का भी कारण है एक में ही लगेगा एक में भी लगेगा ये कैसा तो पुण्य बंधन का कारण अभी ये पुण्य किया स्वर्ग में गए वहाँ भी क्या होगा बंधन भी क्षीणे पुण्य मर्जन होगा हाँ पुण्य आप बंधन का निवृत्ति का भी कारण है इसलिए वहाँ ही नहीं लगा सकता पाप बंधन का ही कारण पुण्य बंधन का भी कारण तो इसलिए साधक है जो तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं पुण्य भी उसका बंधन का कारण एक लोहे के जंजीर एक सोने की इसका मतलब पाले पुण्य करना नहीं ऐसे बात नहीं पाले पुण्य होना चाहिए भगवान भाष्यकारी ने कहा दिया है वेद चूड़ामणि अनेक जन्मों में संचित पुण्य के फलस्वरूप से उसके हो जाता बाद में उसको व्यक्त करना पड़ेगा इसलिए बोले सर्वे पापे या तो पाप का मतलब दोनों बुद्धिपूर्वक हो अथवा अबुद्धिपूर्वक दो प्रकार का पाप होता है एक जान करके एक अनजान जैसा हम चल रहे हैं कितने जीव मर रहे हैं चींटी है सारे जो मर ये अनजान से हो रहा है इसलिए सारे पापों से उपलक्षण पुण्यों से भी प्रभु चले मतलब बिल्कुल मुक्त होता देखिए हम प्राप उपसर्ग लगाते मुच्चते तो काम चल जाता था पर हम मुच्चते का मुच्चते सुषुप्ति में भी हम मुक्त तो होते वहाँ कोई पता है क्या मैं पापी हूँ मैं पुण्य हूँ मैं संत हूँ मैं चोर हूँ मैं लुटेरा हूँ कोई पता सबसे मुक्त होता है वहाँ जो मुक्त होता है बीज से बीज बड़ा रहता है सभी बीज तो रहेगा प्रमुचते गाने से बीज सही बने वहाँ बीज भी नहीं रहता है सुषुप्ति तो के बाद वही सही है कि बीज पड़ा है कारण यहाँ कारण सहित निवृत्त हो जाते हैं इसलिए बताए भगवान सर्व पापे सर्व पापे प्रमुचरे का असंपूर्ण इस प्रकार जो जानता है किसको माँ अर्थात तत्पर का लक्षण अनादि है इस प्रकार जो जानता है सारे पाप से निवृत्त होता है भगवान ने बताया आगे का रुझान ओम शांति शांति शांति